प्रथम वल्ली समाप्त होगी द्वितीय वल्ली में टीका में अभ्युदय निश्रेयस विभाग प्रदर्शन न विद्या विद्या विभाग प्रदर्शन न च केवल विद्यार्थितया शिष्यम प्रथम स्तौति अभ्युदय और निश्रेयस अभ्युदय है स्वर्ग आदि सुख विशेष है निश्रेय से निश्चितम श्रेय मुख्य है ये दोनों का विभाग दिखाएंगे अभ्युदय और से ये दोनों का विभाग दिखा करके अलग समझना चाहिए क्या अभ्युदय क्या से समझ करके आगे चलना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए साधन करना चाहिए किस रास्ता से हम जा रहे हैं लक्ष्य क्या है तो ये दोनों का विभाग यमराज दिखाएंगे आचार्य उसके और और क्या दिखाएंगे विद्या विद्या विभाग प्रदर्शन न च विद्या और अविद्या का विभाग विद्या का फल क्या है स्वरूप क्या है अविद्या का क्या है दिखा करके दोनों को समझ करके जो एक मार्ग में चलना चाहता है वस्तु तो ही विवेक ही लक्ष्य को प्राप्त करेगा दोनों विपरीत मार्ग उसको नहीं समझ करके कभी कहाँ कभी कहाँ चले तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा केवल विद्यार्थी तया केवल विद्या जो चाहता है वो विद्यार्थी हुआ विद्या और अविद्या दोनों को चाहने वाला प्राप्त नहीं कर सकता है केवल विद्यार्थी विद्याम अर्थयते केवल विद्या चाहने वाला है शिष्य ऐसा यदि कोई होता है अभ्युदय और निश्चय से विभाग समझ करके निश्रेयस ही चाहिए मुख्य स्वर्ग आदि सुख लोक सुख धन संपत्ति ख्याति कुछ नहीं चाहिए तब वही होता है मुमुक्षु केवल विद्यार्थी होने से ऐसे शिष्य दुर्लभ होते हैं केवल विद्यार्थी था शिष्यम यमराज ने परीक्षा करके देखा तो केवल विद्यार्थी है तो उपदेश करने के पहले प्रथम स्तौति दिया पहले स्तुति करते हैं वर प्रदान करना है दान कर विद्या प्रदान करना है उसके पहले प्रसन्न होकर के स्तुति करते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं परीक्षा शिष्याम विद्या योग्यतांच अवगम्य आह शिष्य की परीक्षा करके वैराग्य आदि है वैराग्य है अथवा नहीं इसे दिखाने के लिए बड़े प्रलोभन कराया शिष्य की परीक्षा होगी ये वैराग्य आदि है कुछ नहीं चाहता है और विद्या हम चवगम अवगम्य विद्या की योग्यता इसमें है विद्या प्रदान करने के लिए योग्यता और विवेक वैराग्य आदि है तो विद्या की योग्यता है उसमें योग्यता होने पर ही प्रदान करने पर ग्रहण करेगा योग्यता नहीं समझ करके कहे तो कुछ ग्रहण नहीं होता है योग्यता नहीं तो योग्यता प्राप्ति के लिए पहले साधन करना चाहिए विद्या योग्यताम च अवगम्य जान करके फिर आगे उपदेश शुरू करते हैं अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयस्तेव बे नानार्थे पुरुषं सिनीत तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हियत्यर्थाययो प्रेयो वृणीते अन्य श्रेयः अन्यद अपि प्रेयः उत उत कात अपि अन्य श्रेय श्रेय अन्य है प्रियतर श्रेय है कल्याण उत अन्यद अपि एव प्रिय भी अन्य है प्रियतर है प्रिय ते उभे नानार्थ पुरुषम से नीत वो दोनों श्रेय और प्रिय नानार्थे भिन्न प्रयोजन के लिए भिन्न प्रयोजन के लिए पुरुषम सिन्नीत पुरुष को स्त्रियां बंधन बांधते हैं कभी श्रेय मार्ग में चलने के लिए श्रेय नहीं तो प्रेय पुरुष को दोनों बांधते दोनों प्राप्त है दोनों में किसमें चलना है तयो श्रेय आददान से साधु भवति तयो हो और दो मध्य श्रेय और प्रेय दोनों में से जो श्रेय आददान श्रेय को ग्रहण करता है ग्रहण करना चाहता है ज्ञान मार्ग में चलता है तो अभ्युदय नहीं चाहकर सुख नहीं चाहता है केवल श्रेय ग्रहण करना चाहता है साधु भवति यत अर्थात यव प्रेय वृणते और जो प्रेय ही एव का अर्थ एव प्रेय ही व्रण करना चाहता है पुरुषार्थ से हियते त्यज्यते मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है कल्याण मार्ग में नहीं चल सकता है भाष्य में अन्यत श्रेय अन्यद उतेव प्रेय अन्यत का तो पृथक एव श्रेय भिन्न ही है उसका श्रेय उसका स्वरूप भी अलग है फल भी अलग है श्रेनिश्रेयसम निश्चितम श्रेय मुख्य है वो अन्य है तथा अन्यद उतापि एव प्रिय अन्य भी प्रिय भी अन्य है प्रियतर है प्रियतरम अपि ते प्रेय श्रेयसी उभे प्रेयस्य श्रेयस्य प्रेय श्रेयसी दोनों नाना अर्थे नाना अर्था ययो अर्थो ययो ते नाना अर्थे अर्थे प्रयोजन भिन्न प्रयोजन भिन्नम प्रयोजनम ययो भिन्न भिन्न प्रयोजन है भिन्न प्रयोजन ययो दोनों का प्रयोजन भिन्न है श्रेय शब्द से तो ज्ञान लेना तब मुख्य प्रयोजन होगा प्रिय स्वर्ग साधन यागा आदि दोनों का प्रयोजन भिन्न है पुरुषम पुरुषम सिनित पुरुष किस पुरुष को अधिकृतम अधिकारी पुरुष को दोनों बांधते दोनों बंधन में रखते हैं एक मार्ग में चले पुरुष का अर्थ अधिकारी कौन वर्णाश्रम आदि विशिष्टम चिन्हित वर्ण आश्रम आदि वर्ण आश्रम वयो अवस्था आदि विशिष्ट पुरुषों को बांधते हैं बदनित ताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वपुरुष बांधते का क्या अर्थ है दोनों के द्वारा विद्या विद्याभ्याम एक विद्या और अविद्या साधन है आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते दोनों प्रेरणा करते स्वयं कर्तव्य तो न कोई विद्या में चाहता है कोई अविद्या चाहता है वो प्रेरक होगी श्रेय प्रेय बांधते का तो दोनों प्रेरक प्रयोजक होगी दोनों से प्रयुक्त होता है पुरुष सर्व पुरुष प्रयुज्यते ताभ्याम सारे लोग उसमें प्रयुक्त होते श्रेय और प्रिय के द्वारा श्रेय जो चाहता है वो सोता विद्या मेरा कर्तव्य है अप्रिय चाहता तो अविद्या कर्म करना चाहता अविद्या विद्या के विरुद्ध कर्म करना चाहता है वर्णाश्रमादि विशिष्ट होता अधिकारी वर्ण विशिष्ट का अधिकार में ब्राह्मणों बृहस्पति सवे न यजेत एक बृहस्पति यागे ब्राह्मण अधिकारी राजस्व याग में क्षत्रिय अधिकारी है वर्ण विशिष्ट के लिए अधिकार है आश्रम विशिष्ट के लिए अधिकारी है गृहस्थ सदृश में भार्याम उपेयात जो गृहस्थ है सदृश भार्या ग्रहण करे अभी भार्या ग्रहण करने के लिए करने के पहले गृहस्थ नहीं हुआ आगे गृहस्थ बनना है इसलिए गृहस्थ शब्द से कहते हैं सदृश भार्य के ग्रहण करता सवर्ण सवर्णा अपने वर्ण अन्य जाति के नहीं आश्रम विशिष्ट के लिए आश्रम विशिष्ट अधिकारी विवाह करने के लिए ब्रह्मचारी आगे गृहस्थाश्रम समझ जाएगा वायु विशिष्ट का है अधिकार जात पुत्र कृष्ण केशव अग्निन आदित गृहस्थ होने के बाद पुत्र हो गया और बाल सफेद होने के पहले कृष्ण केश कृष्णा केशायस्य पुत्र हो गया आगे करेंगे आगे करेंगे बहुत रोष होते आगे साधना में करेंगे काला हो गया तो फिर रंग लगा कर काला लाल सफेद हो गया तो काला भी कर देते हैं दूसरे को पता नहीं चलेगा बिल्कुल सफेद हो जाता है तो भी काला कर रखते हैं दांत गिर गया दांत लग गया तो दूसरे पता नहीं चलेगा लगे अब अपना दांत दांत है ये सब सुनाई नहीं पड़ता तो कान में कुछ लगा देते हैं सुनाई पड़ जाता है ये कुछ साधन नहीं कर पाते बाकी सब हो जाता है श्रुति कहती है कृष्ण सब बाल काला है सफेद होने होने आ गया दशरथी को भी थोड़ा देखा दर्पण में बाल सफेद दिखने लगा तो क्या अब ये <laughs> राज्य छोड़ देंगे क्योंकि आगे साधना तपस्या करनी है सारा जीवन खाली खा भी करके मरना नहीं है तो सामान्य गृहस्थ क्या भी कर्तव्य हो साधु का तो सारा जीवन साधना करना है गृहस्थ तो कर्म पहले करेगा पुत्र आदि उसके बाद कर्म करेगा दान धर्म करेगा फिर आगे साधन करेगा और साधु तो दान धर्म करना है नहीं दान धर्म ग्रहण करना है इसे साधन तो शुरू से सारा जीवन साधन ही करना है बाल सफेद होने पर तो और क्या कहना है काला हो तो भी साधन करना है और थोड़ा सफेद हुआ तो ध्यान रखना चाहिए साधु को तो ये जा, जात पुत्र कृष्ण के स्व अग्नि तो और अवस्था विशिष्ट के लिए कहा है अभिचिकित्सित व्याधेर अपाम प्रवेश होगा व्याधि कोई रोग हो जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है चिकित्सा हो सकती है तो औषध सेवन करना है जब चिकित्सा नहीं कर है ही नहीं तो कहा गया अपाम अपाम प्रवेश जल में प्रवेश करना जल में पैसे सारे समाप्त कर देना दूसरे को बोझ नहीं बनना चाहिए रोग के निवृत्ति हो सकती है चिकित्सा के द्वारा तो ठीक है जब नहीं है कष्ट है तो उस जल में प्रवेश करके सन्यासी के लिए कहा गया ऐसे कोई अवस्था विशिष्ट में इसके लिए भी कहा गया तब ना समाधि विशिष्ट है कुछ कर्म करने के लिए और ज्ञान मार्ग में चलने के लिए तो वैराग्य होने पर कोई भी किसी अवस्था से जा सकता है उसके लिए कोई अधिक अधिकार तो वैराग्य ही है विवेक वैराग्य तो दोनों श्रेय और प्रेय दोनों श्रेय विद्या को अपने कर्तव्य मान करके प्रिय अविद्या कर्म को कर्तव्य करके दोनों प्रेरित करते हैं पुरुष प्रयुक्त होता है प्रेरित होता है दोनों सामने आते हैं श्रेय प्रेयसुर ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी श्रेय और प्रेय दोनों में से एक अभ्युदय चाहते स्वर्ग आदि सुख इस लोक में सुख ख्याति चाहते धन संपत्ति स्वर्ग ब्रह्मलोक तक तो चाहते हैं इस लोक में चाहने वाला अभी नहीं मिलेगा यदि कर प्रारब्ध है नहीं ये किंतु बहुत पुण्य कर्म करेगा तो आगे जन आगे हो जाएगा कभी क्या हो जाएगा विख्यात हो जाएगा धन सम्पत्ति इकट्ठी हो जाएगी मुक्ति हो जाएगी नहीं फिर कहाँ जाएगा पुण्य सब दे दिया नाम ख्याति धन सम्पत्ति पुण्य समाप्त हो गया बाकी सब पाप कर्म कर्म भोग करेगा उसको वो करने के लिए फिर नीचे ऊपर <laughs> ऊपर तो नहीं नीचे नीचे नरक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे भेड़ बकरे कचरे कुत्ते बिल्ली ऐसे बनते बनते बनते चक्र घूमेगा कभी फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा ये कभी ही फिर मनुष्य जन्म मिलता कोई निश्चय नहीं है तो ये दो एक अभिदो चाहता है एक अमृतत्व चाहता है अभिदो चाहने वाला पुण्य कर्म करता है स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए और अमृतत्व चाहने वाला मोक्ष चाहने वाला ज्ञान के लिए साधन करता है दोनों पुरुष प्रवर्तते दोनों मार्ग में प्रवृत्त होते हैं अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध ही तुच्यते सर्व पुरुष इसलिए सारे पुरुष बद्ध बद्धे गए कहा जाते हैं श्रेय प्रेय प्रयोजक प्रयोजन कर्तव्यतया श्रेय प्रयोजन जिसका श्रेय प्रयोजन ज्ञान का मुख्य है प्रेय प्रयोजन स्वर्ग आदि का कर्म ये कर्म करने के लिए अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने के लिए दोनों पुरुषों को लगाते हैं जो चाहता है जिस मर्ग वो चाहता है जो चाहते हैं हमको लोग माने को चमत्कार दिखाए वो तंत्र साधना करते हैं चमत्कार दिखाने के लिए चमत्कार देखने से लोग बहुत प्रसन्न होकर के रुपया देंगे चमत्कार दिखाने वाला समाप्त हो जाता है बड़ा चमत्कार यही है कि समता समाप्त होने वाले खत्म होने वाला है फिर उसके लिए चिंता नहीं करता आगे क्या होगा ये चमत्कार दिखाकर दूसरे को ठगना चाहता है अपने आप क्या होगा पता नहीं चमत्कार दिखाकर एक करने पहले वो खत्म हो जाता है अभी जो चमत्कार दिखाकर बड़े प्रसिद्ध हो गया वही चमत्कार है आगे क्या बन जाएगा आगे खचर बन जाएगा कुत्ता बन जाएगा बंदर बन जाएगा यही चमत्कार है ये सब अपने कर्तव्य करके प्रयुक्त बद्ध कहते हैं टीका में श्रेय प्रेयस और अन्यतर परित्याग नैव अन्यतर उपादान हेतु महा श्रेय और प्रेय दोनों में दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं जो दोनों लेना चाहते हैं वो संभव नहीं पूर्व और पश्चिम दोनों को देखने के लिए प्रयास करो लघु अभिषेक कितने दिन में देखो दोनों एक साथ देखना है क्रम से नहीं एक साथ पूर्व और पश्चिम कितने समय चेष्टा करने से देख लोगे इसी प्रकार दोनों नहीं प्राप्त होगा अन्यतर परित्याग नैव अन्यतर उपादानी इसलिए यही निश्चय करें हमको क्या चाहिए किस तरफ जाना है बहुत लोग तो पता नहीं कहाँ क्या चाहिए कहाँ चलते क्योंकि इस वासना इतने भोग करने की इच्छा है बस इसमें ही और आश्रय प्रिय क्या आगे है आगे के लिए विचार करते नहीं जैसे पशु है घास वहाँ मिलता है जाकर खाओ पानी मिलता है तो पी लो कहाँ खाद्य मिलता है ये जानते हैं और आगे काल के लिए क्या करना है क्या रात को सोचना क्या सोचना कुछ नहीं उनको काल ना पीना मालूम है कोई पिटाई करने आता है भाग जाओ कोई बुलाता है तो उसके पास चलो बस यही पशु पक्षी जानते हैं यही मनुष्य यदि करता है तो पशु पक्षी के बराबर हो गया यही विचार करके एक को छोड़ना पड़ेगा एक को ग्रहण कर अन्यतर परित्यागे न एव अन्यतर उपादान हेतुमाह अन्यतर से उपादान ग्रहण एक को ग्रहण करना अन्यतर दोनों में एक को अन्यतर कहते हैं एक को एक ग्रहण करेगा अन्य को एक तरह को छोड़ करके ही जो ज्यादा अपने को बुद्धिमान मानते दोनों क्या ये भी चाहिए वो भी चाहिए <laughs> दूसरे को बताते हैं किंतु वो वो भी हो सकता है अपने को पता नहीं है एक ही के पीछे प्रेय के पीछे जाते हैं कहते हैं हाँ, श्रेय के भी हो जाएगा आगे साधन कर लेंगे पहले प्रेय हो जाए भोग कर ले साधन कर लें ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई महात्मा बताते अरे साधन तो छः महीना कभी कर लेंगे पहले तो इसको कर लो <laughs> भागवत कथा कर लो साधन तो कभी हो जाएगा वो क्या बड़ी बात है क्यों जाकर वह कहीं जाकर बैठी गए जाकर के पहाड़े में गुफा में बैठी गए कुछ तो नहीं हुआ तो भी लोगों का अगर कहीं हो गया हमको साक्षात्कार हो गया और क्या करना <laughs> यही तो होता है इसलिए दोनों में से एक ग्रहण करके एक छोड़ना पड़ेगा कहते हेतु देते ते यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनी विद्या विद्या रूपत्वादि विरुद्धे एक एक पुरुष संबंधिनी विरुद्ध है एक पुरुष में दोनों एक विद्या और एक अविद्या विद्या और विद्या के विरुद्ध अविद्या दोनों विरुद्ध है विरुद्ध होने से एक साथ दोनों हो नहीं सकता है विद्या प्राप्ति करना चाहते तो अविद्या अविद्या कार्य में आसक्ति छोड़ना पड़ेगा और अविद्या का कार्य है कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना है तो विद्या पीछे छोड़ देना पड़ेगा ज्ञान मोक्ष नहीं होगा इसलिए क्या करना पड़ेगा इति अन्यतरा अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सहानुष्ठातुम अशक्यत्वात् जितने बुद्धिमान चतुर हो अपने को चतुर मानने से नहीं होता है अन्यतर से अपरित्याग न एक को नहीं छोड़ करके एक पुरुष दोनों साथ साथ अनुष्ठान कर ले अनुष्ठातम संभव है असक्यत्वात संभव नहीं है एक को छोड़ करके एक मार्ग में चलना पड़ेगा विरुद्ध मार्ग है हां यही समान रास्ता है एक तरफ जाने वाले बीच में से कहीं इधर कहीं इधर हो गया ऐसे कहीं के रास्ता है दोनों दोनों रास्ता ऐसे चलते हैं बीच में कहीं गली है तो इस रास्ते में चला थोड़ा कभी इधर चला गया इधर जाते समय देखते हैं यहाँ बहुत भीड़ है चलो उस रास्ता में चलो उधर थोड़ी जाते देखा बहुत भीड़ चलो इधर आ जाओ ऐसे करके हो सकता है किन दोनों विरुद्ध रास्ता होगा तो कभी इधर कभी इधर होगे तो इधर जाओ फिर इधर आ जाओ फिर इधर थोड़ी जाकर देखा भीड़ फिर घूम घूम कर इधर आ जाओ फिर इधर फिर इधर ये होता रहेगा विरुद्ध होने के कारण परस्पर विरुद्ध होने से एक को छोड़ करके अन्य मार्ग अन्य एक में नहीं जा सकता है अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुशातम असक्यत्वात् तैर हित्वा अविद्या रूपम प्रेयः श्रेयः एव केवलम आददानस्य उपादानं कुर्वत साधु भवति साधु भवति या साधु विसर्ग नहीं ना इसलिए मंत्र में साधु रेप शायद होगा तो रेप नहीं चाहिए मंत्र में देखो मूल में साधु रेप नहीं देखो हैं अच्छा हाँ पुराने में पुराने में साधु रेप है तो काट देना साधुर भवती इसे मंत्र में पाठ है साधु भवती एक साथ नहीं कर सकते तो हित्वा अविद्या रूपम अविद्या रूप प्रेय को छोड़ करके प्रेय ही अविद्या रूप है अज्ञान से ही सुख भोग सब कुछ स्वर्ग आदि श्रेय एव केवलम आददानस्य श्रेय एव केवलम केवल श्रेय जो चाहता है मोक्ष उसका साधन ज्ञान ज्ञान के साधन जितने केवल वही चाहता है आददानस्य ग्रहण करने वाले उपादान कृपतः साधु भवति शोभन भवति शिवम भवति आनंद रूप ऐ साधु है शोभन शिवम आनंद स्वरूप होता है टीका में ते यद्यपि एक-एक पुरुष संबंधिनी तथापि विरुद्ध विरुद्धे एक-एक पुरुष संबंध ते श्रेय प्रे तथापि दोनों विरुद्ध है एक समय में दोनों नहीं कर सकता है जब पहले निष्काम कर्म उपासना करे अंतकोण शुद्ध वैराग्य होता है तो एक मार्ग ले सकता है नहीं तो मार्ग विचार नहीं कर पाता है पशु पक्षियों क्या क्यों उनको केवल मालूम है कहाँ पानी मिलेगा पीने के लिए कहाँ खाने के लिए घास है वही मार्ग जानते हैं फिर भी वो कुछ जानते हैं कहाँ शत्रु है कहाँ क्या है जानवर आदि आन से भी जान लेते हो मनुष्य को तो इतने मालूम नहीं पशु पक्षी सूं करके भी जान लेते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए पेड़ पौधे को उनको कौन सिखाता है सूं करके खा दे देते सूं करके छोड़ देते हैं कोई कोई पक्षी दूर से देख करके भी बहुत दूर से देख करके पेड़ में सुंदर फल लगा किंतु पक्षी सब फल को नहीं खाते देख करके और पेड़ में कोई अमृत आदि है कोई पकना शुरू क्या पपीता आदि सोचते हैं कि हम हाँ, काल को पक जाएगा हम तोड़ेंगे पक्षियों को पता चल जाता है <laughs> आपको तो, आप तोड़ने के पहले वो चंच लगा देते हैं वो खा लेता है और ढूंढ ढूंढ करके पेड़ में आकर के इस शाखा में उस शाखा में बैठे बैठे देखेंगे कहाँ कौन देख करके पता चलेगा हाँ, लगा देते हैं खा लेते हैं वो, वो वही करते दिन भर उसको जानते हैं तो देख कर भी जान लेते हैं मनुष्य को इतने भी मालूम नहीं है व्यर्थ ही अभिमान करता है हम जो जानते हैं किंतु इतने मनुष्य को दिया गया ये जो विशेष है मनुष्य में यही विशेष है श्रेय मार्ग में जा सकता है ज्ञान प्राप्त कर सकता है आगे का सुधार कर सकता है इतने कर सकता है तो इसलिए दोनों में हित्व अविद्या रूपम प्रेय को छोड़ करके श्रेय केवल ग्रहण करना करता है तो साधु होता है कल्याण और दूसरा कौन होता है यस्तु अदूरदर्शी दूरदर्शी नहीं है जो धन संपत्ति इकट्ठे करना चाहता है प्रसिद्ध होना चाहता है बना देते बड़े-बड़े मकान कोई कोई कहते क्या इतने पढ़ कर करते अभी तक तो क्षेत्र को टिकाते हम तो कुछ नहीं पढ़े देखो अब इतने बड़ा आश्रम बना दिया तो पढ़ना व्यर्थ हो गया ना इतने साधन क्या तपस्या करते क्या ये करेंगे तप करके किस दूसरे का ना कल्याण करेंगे ना अपना कल्याण करेंगे और जहाँ बैठ बैठ करके मांग कर खा कर सारा जीवन क्या करेंगे देखो हम लोगों का कल्याण करते क्या कल्याण सबको भजन कराते हैं सबको ज्ञान मार्ग बनाता है और मकान बना करके इतने सब करते क्या क्या लोगों से रुपया लाने के लिए बोलना पड़ता है खाली भागवत कथा से रुपया ज़्यादा नहीं देंगे इसे बनाने पड़े हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे विद्यालय बनाएंगे और आदिवासी लोगों को वस्त्र देंगे ऐसे से उनके सामने रखेंगे तो रुक रुपया देंगे वो चोरी नहीं लाएंगे दस लाख इकट्ठी किया जा करके कहीं गांव में थोड़ा कपड़ा बांट दिया दस बीस हज़ार का फोटो लेकर दिखा दिया देखा आदिवासी लोग हम वस्त्र बांटते हैं बड़े सुंदर कोई कहते हैं कहते हम किसी गांव में आदिवासी गांव में गए तो गाड़ी में जो गए तो सब बच्चे सब घर लोग घर में अंदर रहे बाहर नहीं आते देख रहे सब अंदर से बाहर नहीं आते देख रहे बाहर क्यों नहीं आते हम तो कुछ देना चाहते इधर तो फिर बहुत देर के बाद तो पता चला वो उनके पास कपड़ा ही नहीं है सब नग्न है इसे लज्जा से नहीं आते हैं क्यों नहीं आते बाहर पहनने के लिए कपड़ा नहीं फिर हम कपड़ा मंगा कर सबको कपड़ा दिया अभी वहाँ कपड़ा देना है और तो सब लोग फिर कह रहे कपड़ा पहनने का नहीं तो कपड़ा कमल रुपया सब इकट्ठे हो जाएगा जाकर के वहां देना है फिर जाकर के बच्चे को देख बुला करके छोटे-छोटे नगे नगे बच्चे को बुलाएंगे और कपड़ा छोड़ छोड़कर आ जाओ हम कपड़ा देंगे तो बच्चे सो कपड़ा पहन कर आ जाएंगे <laughs> पटोले ले, लें देखो इनके पास कोई कपड़ा नहीं हमने कपड़ा दिया ये सब यही काम करने वाले करते रहते हैं ये दूरदर्शी नहीं है दूर को देखना है दूरम पश्यति दूरदर्शी दूर को देखने क्या अर्थ है दूर का भी खाली पहाड़ पर्वत दूर देखने का नहीं आगे कितने दिन बचना है आगे कहाँ जाना है आगे क्या होगा हमारा इसको जो देखता है वो कहते दूरदर्शी पशु पक्षी ये सब चिंतन चिंता नहीं करते वो निश्चिंत बड़े आनंद है मनुष्य भी इस प्रकार हो जाएगा तो अदूरदर्शी होता है इसको कहते विमूढ़ विशेषण मूढ़ मोहग्रस्त पशु की भी बुद्धि है किंतु बुद्धि विकसित नहीं है इसी प्रकार मनुष्य को जो पशु जैसे बुद्धि है वो कौवा है ना वो भी बड़ा चतुर है इसी प्रकार मनुष्य कोई चतुर तो हो सकता है लेकिन शुद्ध बुद्धि नहीं है विमूढ़ ऐसा जो दूरदर्शी दूर नहीं देखता है श्रेय प्राप्त कर सकता है उसको नहीं करके प्रेय मार्ग में जाता है जितने प्रारब्ध में उससे अधिक नहीं मिलेगा इतने भी विश्वास नहीं करके चाहता है कि अभी हमको ऐसा हो जाए बड़ा बन जाए बड़ा बन जाए बड़ा बन जाए सब बड़ा बड़ा संबर क्या बनाते हैं <laughs> वो बड़ा बड़ा बनेगा बड़ा क्या बनेगा जितने प्रारब्ध में इतने होगा अधिक नहीं हो सकता है ये साधु को दृढ़ निश्चय करना चाहिए जो प्रारब्ध में इतने ही मिलेगा अधिक नहीं मिलेगा उधर व्यर्थ प्रयत्न नहीं करके मेरे लिए अधिक हो उसे मेरे भी जाए तो क्या होगा छोड़कर जाना है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए उसको कहते दूरदर्शी अन्य होता अदूरदर्शी विमूढ़ वो क्या है हियत अर्थात वाक त्यागे व्युज्यते किसे अर्थात का तो पुरुषार्थात जो पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष में नित्य पुरुषार्थ मोक्ष पारमार्थिकात प्रयोजनात नित्य जो पारमार्थिक प्रयोजन मुख्य उससे नित्यात प्रत्यवते च्युत हो जाता है अदूरदर्शी है प्रिय मार्ग में चलता है जो प्राप्त करना चाहेगा सो प्राप्त कर लेगा प्राप्त तो नहीं कर सकता है किंतु पारमार्थिक को भी छोड़ देना पड़ता है चलना चाहता है चाहता है हमको प्रिय मिल जाए प्रारब्ध में तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा किंतु श्रेय मार्ग को तो छोड़ ही दिया वो गया पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है इसलिए पुरुषार्थ मार्ग में सन मार्ग में ही चलना चाहिए यहाँ प्रयत्न करके कोई परमात्मा प्राप्त कर सकता है वो प्रारब्ध नहीं कि प्रारब्ध है तो परमात्मा मिलेगी कोई थोड़ा वेदांत श्रवण करके बोलते हाँ हमारे प्रारब्ध है तो भगवान का दर्शन हो जाएगा इसलिए इधर चलो कितने सरल प्रारब्ध में तो भगवान का दर्शन हो जाएगा आएंगे कहीं मिल जाएंगे अब हमको क्या करना साधना करना क्या जरूरत है और क्या करना इधर चलो संसार क्या आगे ये विमूढ़ उसको कहा गया चित हो जाता है पुरुषार्थ तो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता है ज्ञान मोक्ष कोसो यौ प्रियो वृणिते उ उकार एव प्रे एव प्रे ही ग्रहण स्वीकार करता है उपादत्ते ग्रहण करता है उस मार्ग में चलता है तो परमार्थ मोक्ष से छूट जाता है मोक्ष क्या प्राप्त करेगा उसका साधन ज्ञान ज्ञान का साधन श्रवण आदि भी नहीं कर पाएगा श्रवणाद भी नहीं कर पाते यही पाप है प्रतिबंधक वासना यही पाप के कारण पाप मन में आता है दूसरे वासना के कारण श्रेष्ठ मार्ग सामने है उसको छोड़ देता है बहुत में से हो जाता है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो क्षेमाद वृणीते श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतः आ इतः एतः इन धातु का दोनों आते हैं एति इतः यन्ति दोनों श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतः दोनों श्रेय और प्रेय दोनों आते मनुष्य के पास तौ संपरित्य विमनति धीर तौ दोनों संपरित्य अच्छा सम्यक विचार करके परीक्षा करके दोनों पदार्थ को समझ करके विचार करके कौन उत्कृष्ट है कौन निकृष्ट है किस कौन गुरु है कौन लघु है क्या करना चाहिए क्या नहीं है क्या प्रधान क्या गौण पूरा संपरित्य संपरि इत्य परिगम्य समझ करके समझ करके मन से विचार करके धीर विभिन्नक्ति विचार करता है धीर धीर पुरुष विचार करता है दोनों दोनों के मन से आ करके विवेनक्ति विवेक करता है इसका क्या फल इसका क्या फल से मार्ग में जाकर के धन संपत्ति ख्याति मिल जाए मरने के बाद कहाँ जाएगा ठिकाना नहीं प्रेम मार्ग में श्रेय मार्ग में जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसे विचार करके जो धीर है श्रेयो ही प्रेयसो अभिवृणिते श्रेयो ही ही कहते एव श्रेय एव धीर श्रेय ही वर्ण करता है अभिप्रेस प्रेयसी प्रेय को छोड़ करके श्रेय का ही वर्णन करता है स्वीकार करता है श्रेय मार्ग में जाता चाहता है वही धीर है कोई भी कितने प्राप्त कर ले विचलित नहीं होना चाहिए अपने मार्ग पर चलना है आपका यदि कर्तव्य जो प्राप्तव्य आपका है आपको निश्चित है उसी मार्ग में चलना संसार के प्रवाह में कोई आगे को पीछे कुछ हो जाए अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए चलना होता है यानी कि बहुत लोग जाते तो उधर चलना ऐसा नहीं अपना यदि है जाना है आपको इधर जो जला जलाए अब बहुत लोग उधर चलते तो उधर चलना है लक्ष्मण जला जिसका पश्चिम में जाने पर उसका घर जाना है थोड़ी देर बाहर देखा सब लोग इधर चलते हैं तो अपने घर के तरफ जाएगा इधर चलना चाहिए सब लोग चलते तो उधर भी चल पहुंच जाए हरिद्वार बोकारिया जा करके घर इधर है वहां नहीं जाकर के उधर चलना नहीं यही अविवेक अधुरदर्शी है बहुत लोग चलने दो अपना लक्ष्य क्या है देख करके चलना पड़ता है बहुत लोग इधर जाते हैं तो कुछ लोग इधर भी जाते हैं जिनका लक्ष्य इधर जाना है इसी प्रकार अनेक लोग संसार में तो बहने वाले बहुत है किंतु जो बहुत पुण्य अनेक जन्म के पुण्य से ही ये बुद्धि की शुद्धि होती विवेक होता है विवेक नहीं होने का कारण इसलिए बहुत जन्म में पुण्य कर्म नहीं किया अंतगुण शुद्ध नहीं हुआ तो बुद्धि में विकास नहीं होता है तो बुद्धि पशु पक्षी के जैसे रहता है रहती है जैसा भी मनुष्य में किस किस की बुद्धि दिखते बहुत हो इसी प्रकार जो अपने को जितने चतुर समझे बुद्धिमान समझे यदि प्रिय मार्ग में चलता है अवे विमूढ़ है श्रेय मार्ग में चलता है विवेकी वो दोनों का विचार करके केवल प्रेय को छोड़ के केवल श्रेय ग्रहण करता है और जो मंद है मंद बुद्धि वाला योग क्षमात प्रेयो वृणते योग क्षमात पंचम निमित्त योग क्षम के निमित्त योग प्राप्त की प्राप्ति के लिए और प्राप्त के रक्षण के लिए प्रेयी वर्ण करता है जो मंद बुद्धि वाला है बस यही चाहता है भोग नाम ख्याति स्वर्ग सुख मिले ये वर्ण करता है यमराज नचिकेता को कहते हैं टीका में भाष्य में सत्यम स्वायत्ते तथापि अच्छा उसके पहले भाष्य में यदि उभयपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेयव आदत्य बाहुल्य न लोक इति उच्यते और अपने दोनों श्रेय प्रेय दोनों आया तो कोई तो श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग को ग्रहण करता है कोई श्रेय मार्ग को जो अदूरदर्शी हो प्रेय मार्ग को ग्रहण करता है ऐसा क्यों करते हैं यदि उभयपि कर्तुम स्वायत्ते स्वाधीन है अपने अधीन में है यदि स्वयं पुरुष कर सकता है पुरुषेण किमर्थम प्रेयव पुरुषेण कर्तुम सहायते दोनों यदि पुरुष कर सकता अपने अधीन से तो बहुत लोग बाहुलेन किमर्थम प्रेय बाधते ज्यादा लोग बाहुलेन बहुत लोग प्रे ही ग्रहण करना चाहते प्रेय ग्रहण करते हैं से मार्ग तो कोई कोई चलता है मनुष्याणाम सहस्यसु कश्चित यातति सिद्धये बहुत लोग उसी मार्ग में प्रेम मार्ग में चलते हैं क्यों ऐसा होता है इति तो उच्यते इसका उत्तर देते हैं सत्यम स्वायत्ते अपने अधीनत है तथापि साधनतः फलतश्च मंदबुद्धिनां दुर्विवेक रूपे सति व्यामिश्रीभूतैव मनुष्यम पुरुषम आयत प्राप्नुत श्रेयश्च प्रियश्च दोनों तो अधीन है श्रेय प्रिय तथापि साधनतः फलतश्च साधन क्या है श्रेय का साधन क्या प्रिय का साधन क्या है और साधन अनुष्ठान क्या करना अरे फल क्या है दोनों विचार नहीं कर पाते इसका क्या फल जो करता है उसका क्या फल होगा मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती मंदा बुद्धि रेशाम ते मंद बुद्धि वाले मंद बुद्धि वाले का विवेचन नहीं हो पाता है दुर्विवेक रूपे सती विवेचन नहीं कर पाते जैसे बच्चा विवेचन नहीं कर पाते क्या लेना क्या नहीं लेना जो हानि करे उसको भी लेकर मुख में लगा देता है क्यों सोचता है ये बड़ा अच्छा दिखता है इसको ले लेता है कुछ शोभन बुद्धि करके उसको ले लेता है विवेचन नहीं कर पाता क्या हमको लेना क्या नहीं इसी प्रकार साधन फल को नहीं समझ करके क्या इसका फल प्रयोजन नहीं समझ कर मंद बुद्धियों को क्या है दुर्विवेक रूप सती श्रेय प्रेम में कौन उत्कृष्ट है किसको ग्रहण करना चाहिए विवेचन नहीं कर पाता है तो दुर्विवेकन से क्या होता है व्यामिश्रीभूतैव दोनों मिले हुए जैसे मनुष्य के पास आते हैं विचार करने पर विरुद्ध है किंतु विरुद्ध होने पर भी जब विचार नहीं कर पाता है वो तो दोनों आगे मिलकर जो मिलते ही नहीं एक हो नहीं सकते मिला नहीं अलग-अलग है किंतु अपने मोह विवेचन नहीं मंद बुद्धि के कारण मिला हुआ आता है दोनों सामने आ जाते हैं मनुष्यम पुरुषम एत आयत प्राप्त श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एत दोनों मनुष्य के बाद मिला हुआ आ जाते हैं दोनों कौन श्रेयस्य प्रेयस्य तो ये दोनों आते हैं दोनों आने पर अपने को हमको क्या चाहिए उसको ग्रहण करना है दो आ जाते सब आ गया तो उसको ग्रहण कर लेना नहीं मिल जाए इसे ग्रहण कर लेना नहीं हमको प्रयोजन क्या है कितने क्या चाहिए ये विचार करना है अतो हंस एव अम्भसः पय जैसे हंस है अम्भस पय जल से दुग्ध ही ग्रहण करता है दोनों आने पर दोनों ग्रहण नहीं करता है ये तो हंस केवल दुग्ध के ग्रहण करता है जल में मिला हुआ और सन्यासी होता है परमहंस परमस्य सुहंसच हंस से परम श्रेष्ठ है ये दुग्ध जल पृथक करना हंस के पास सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है किंतु ये मनुष्य के पास सामर्थ्य आत्मा अनात्म विवेचन करना अनात्म अनित्य वस्तु को छोड़ करके आत्मा आत्म प्राप्ति का साधन को ग्रहण करे पहले जैसे ग्रहण करता है तौ श्रेय प्रेय पदार्थो संपरित्य श्रेय और प्रेय दोनों पदार्थ को संपरित्य विचार करके प्राप्त करके जान करके संप्रीति का सम्यक परिगम्य सम परि इत्ययन धातु का संप्रीत सम्यक परिगम्य दोनों को मन से आलोच्य गुरु लाघवम मन से विचार करके कौन गुरु कौन लाघव कौन मुख्य कौन कौन कौन प्रधान है ये विचार करना है गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य गौण मुख्य व्याकरण में भी मुख्य कार्य यहाँ भी मुख्य कार्य क्या है विचार करके विभिन्नति धीर विभिन्नति का से विवेक करता पृथक करती पृथक करोति दो का है पृथक करोति दोनों का पृथक करता है कौन है धीर बुद्धिमान धीमान धियम राति धीर धीर बुद्धिमान वही धीर होता है बुद्धि वाला धीर नहीं होता है चंचल होता है धीर विवेकी सुख दुख निंदा स्तुति को सहन कर लेता है बीच विचार करके गुरु लाग विचार करने से सहन कर लेता है सहन करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता है जो हल्का है उड़ जाता है पत्थर तो धीरे रहते रहे पवन से कुछ नहीं होता है हल्का रुई उड़ जाता है भागता इधर फिर सोता हम ज़्यादा समझदार है भटकता इधर उधर साधु बनकर कोई मुख्य श्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होता है सन्यास श्रवण कुरियात सन्यास केवल श्रवण करने के लिए श्रवण प्राप्त होने पर छोड़ कर भागता है कहता है ये लोग क्या समझते हैं हमको बाहर जाते थे कितने सुख सुविधा सम्मान मिलता है यहाँ बैठ कर क्या मिलता कोई पूछता नहीं बाहर जाने पर कितने दो तीन चार को बुला कर ले लेते हैं कभी इसे कैसे साधु आएंगे सिखाएंगे अरे क्या करते हो यार पढ़ कर क्या होगा ऐसे ऐसे वहाँ ऐसे होता है ऐसे सिद्धि चमत्कार बताएंगे हाँ, एक दो महात्मा फिर उनके पास साथ साथ चले जाते हैं पहले देखें ऐसे महात्मा भटकने में आएंगे बीच में दो तीन दिन चार दिन रहेंगे एक दो को लेकर चल जाएंगे एक कुटिया है एक स्थान है बिल्कुल शांति से बैठो साधन करो ये भोजन से साधन थोड़ी होगा कहीं ऐसे भोजन से साधन नहीं होगा भोजन करने के लिए थोड़ा दूध चाहिए घी चाहिए तो चला जा जाकर वहाँ गया बैठ गया खाना पीना तो ऐसे मिल जाता है साधन क्या होगा फिर गजमूर्ख बनकर फिर आएंगे फिर आयुण रेली किंतु वहां कुछ दिन खा पी कर जब आएंगे ना यहाँ पंद्रह दिन रहना मुश्किल है तो ये क्या खाद्य है <laughs> चलो उधर तो यहाँ कर देखे थे नहीं रहा फिर थोड़ा बाहर भटकने के बाद आश्रम में रहना मुश्किल है दोनों को विचार करके गुरु को विचार करना चाहिए जो धीर और विवेकी है वो विचार करके क्या करता है अविवेकी विचार नहीं कर पाता है धीर विवेक नहीं धीर हो विचार करके पृथक करके क्या करता है विविच्य च श्रेयो ही श्रेयो ही हिकात एव विचार करके श्रेय एव ही ग्रहण करता है अभिवृणिते श्रेय का ही वर्णन करता है प्रेयस अभ्यर्थत्वाद अभी अभी मंत्र में आया श्रेय धीरो अभी प्रेयस वृणिते अभी का अर्थ वृणिते अभिवृणिते दोनों श्रेय का ही ग्रहण करता है क्योंकि प्रेय से अव्यहितत्वात् प्रेय के अपेक्षा श्रेय उत्कृष्ट है विचार करने पर ही उत्कृष्ट ग्रहण करेगा नहीं तो निकृष्ट के पीछे चल जाएगा श्रेय ही ग्रहण करता है कौन ग्रहण से करता कोसो धीर बुद्धिमान विवेकी यस्तु मंदो अल्प बुद्धि वही मंद है अल्प बुद्धि अल्पा बुद्धि रस्य बुद्धि में विकास नहीं हुआ अल्प बुद्धि वाला पशु पक्षी के जैसे जड़ बुद्धि वाला सविवेका सामर्थ्याद योग क्षेमाद योग क्षम निमित्तम शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इत्येतत् प्रेय पशुपुत्र आदि रक्षण वृणीते विवेक नहीं सामर्थ्य नहीं विचार करने के लिए तो अल्प बुद्धि वाला होने के कारण अपने आप को कोई अल्प बुद्धि वाला नहीं मानता है जितने बुद्धि हो अपने बुद्धि को सब मानते हैं बहुत बुद्धिमान इसलिए अल्प बुद्धि यदि मान जान लेगा कभी-कभी बोलते हैं हमारे बुद्धि कम है किंतु मंदर अंत हम समझदार है ऊपर बोले बोलने पर भी दूसरे को ठगना चाहता है किंतु वास्तव अल्प बुद्धि क्या होता है विवेक का सामर्थ्य नहीं होता है विवेचन नहीं कर पाता है तो फिर प्रिय ग्रहण करेगा योग क्षमात योग क्षम निमित्तम योग और क्षम कुछ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना है और जो प्राप्त है उसको रखना है वो क्या करता है शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम इति तत् वही शरीर आदि की उपचय वृद्धि थोड़ा पतला हो गया थोड़े दुर्बल हो गया थोड़े घी दूध दही चाहिए फल आदि कोई क्या है वहाँ चलो हिमाचल प्रदेश वो फल तो रास्ता में चलो सब फल भरे हुए हम गए एक बार कहाँ से फल भरे <laughs> जैसे कि रास्ता में सब फल हुए पेड़ पौधा जंगल बा खाओ जितने है है कहीं बगीचा में है कितने खा सकते हैं है बहुत जहाँ बगीचा है वहाँ खा चले जाओ फल कितने खाओ कितने खाएंगे कौन खा सकता है जो नहीं मिलता था उसकी जा वहाँ जाने पर फल खाने की इच्छा नहीं होगी <laughs> वो कहे हमको फल नहीं चाहिए रोटी चाहिए कोई खाली फल देगा तो कितने व्यक्ति खाली फल खा रह जाएंगे <laughs> रोटी चाहिए वो सब उस शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्त शरीर आदि की उपचय वृद्धि रक्षा इसके लिए सोता है एक स्थान बना दे स्वतंत्र रहे स्वतंत्र ही है सुबह उठना जरूरत नहीं जब चाहे जितेंद्र सो यहाँ तो चार बजे घंटी लगती है बड़े घंटी से परेशानी हो गई रोज रोज की बात है <laughs> पाँच बजे उठने मंदिर जाना ये कोई तो क्यों स्वतंत्र हम साधन भजन करने वाले हैं क्या साधन भजन क्या स्वतंत्र है तो जब चाहे भोजन करना 10 बजे तो कोई कोई भोजन ला के रख दें तो उसके बाद स्नान करते हैं क्योंकि स्नान के बाद तुरंत भोजन करना चाहिए एक नियम कोई कोई मानते स्नान के बाद तुरंत भोजन करना चाहिए और स्नान करके फिर भोजन के जाओ तो देर होता है पर भोजना रख लो फिर स्नान करते करके तुरंत बैठ कर भाव खाओ नहीं तो स्नान कभी बाद में कर सकते हैं <laughs> क्या चिंता है दोपहर के बाद कर सकते हैं आराम से गंगा तट में रहने वाला हम देखे भोजन भी ले भोजन भी कर लिए फिर बाद में दो तीन बजे जाएंगे स्नान करने के लिए ये स्वातंत्र्य ऐसे है स्वातंत्र्य इसके निमित्त ये सब करना चाहते ये मंद अविवेक अल्प बुद्धि वाले शरादि उपचार रक्षण निमित्तम इतेतत प्रेयः ये तो सामान्य साधु के लिए और बाकी थोड़ा समझदार है तो रुपया इकट्ठे करेंगे कथा करके प्रेय और धन संपत्ति इकट्ठे करना कोई संसार में रह करके धन कमाते हैं ये कोई साधु बन गए तो कहते तो संसार के भार है ये सब क्या कर रहे छोड़ कर घर जाते तो क्या आकर पूछते बड़े-बड़े समझदार व्यक्ति आकर पूछते आप साधु क्यों बन गए बहुत लोग आकर पूछे के बारे बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर कोल डॉक्टर के वहां थे आकर पूछे आप साधु क्यों बन गए सब पूछे हाँ, हमने पूछा आपने आप डॉक्टर क्यों बने साधु क्यों नहीं बने <laughs> अब ये सब छोड़ कर गाजा साधु बन जाओ ये बोल साधु क्यों बनेंगे मेरा क्या हम साधु नहीं बनेंगे <laughs> साधु ही बनना चाहिए और साधु क्यों बनना <laughs> साधु बनना है आपको भी चाहे तो आ जाओ क्यों साधु बनना है हम बता देंगे पहले साधु बन जाओ वैसे कुछ नहीं उनको लगता है कि ये लोग क्या कहते पलायन बाद अच्छा, छोड़ कुछ नहीं कर पाए छोड़ गए तो हम भी कहते तुम ये नहीं कर पाओगे इसलिए उसमें लगे <laughs> बैठ कर जप करो कोई कोई कहते बड़े कुछ नहीं करके खाली बैठ बैठ कर खाते हैं तो उसको बताते तुम आकर एक दिन बैठो <laughs> बैठ जाओ कुछ नहीं तुमको भोजन मिलेगा खाली बैठ जाओ जो काम करने वाले भटकने वाले बैठ जाएंगे परिश्रम करने वाले क्या साधु में देखो जो इधर-उधर भागने वाले उनको बैठा दो बड़ा दंड हो जाएगा <laughs> बैठ नहीं चाहते हैं भटकने वाले इसलिए कोई पशु पुत्र आदि लक्षण प्रिय वर्णन करता है यही श्रुति में कहा गया है आख्यायिका के द्वारा यही ग्रहण सीखना है क्या ग्रहण करना है किस में चलना है यमराज अभी ज्ञान का उपदेश नहीं करके स्तुति करते सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामा न विध्याय नचिकेतो साक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयम वाप्तो यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्याः ऐसे होने पर भी सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यान है नचिकेत अत्यसराक्षी छोड़ दिया प्रिय पुत्र पशुपुत्र आदि प्रिय रूप जैसे अप्सर प्रभृति इनको काम्य वस्तु कामान अभिध्यान इनका ध्यान चिंतन करके विचार करके नित्य अनित्य विचार करके अत्यसराक्षी अत्यंत त्याग कर दिया अतिष्टवान कहते अहो बुद्धिमता बुद्ध बड़े बुद्धि कुशल कुशल हो इनको तुमने छोड़ दिया जिसमें जहाँ बहवो मनुष्य मज्जंती जिसमें बहुत लोग मग्न होकर के डूबते भागते रहते तुम उसको छोड़ दिया नेताम श्रृंकाम वित्तमय बाप तो ये जो धन वित्तमय धन प्राय श्रृंका है श्रुति मार्ग कुत्सित गति कर्म मार्ग में प्राप्त जा करके प्रिय प्राप्त करना ये जो चितने तुमने प्राप्त नहीं किया ग्रहण नहीं किया छोड़ दिया जो कर्म करते करते जो फल मिलेगा वो फल तुमको सीधा देते हैं बिना कर्म करके बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाकर जो फल मिलता वो करते हैं वो फल तुमको देते हैं हम इसे ले लो तो भी तुमने नहीं लिया उसमें डूबा नहीं जिसे बहुवो मनुष्य मज्जंती बहुत लोग डूबे रहते हैं उसे में रहकर अपने का कृत्य कृत्य मान लेते हैं बड़े खुश हो जाते हैं हम जैसे कोई दूसरा है ही नहीं बड़े बहुत बहुत मनुष्य उसमें प्रिय मार्ग में चल करके बहुत बड़े हो जाते हैं धन संपत्ति बहुत हो गया तो आखड़ा वाले उनको मंडलेश्वर बना देंगे और सम्मान मिलेगा कुछ कुछ लोग तो दोनों तरफ रहते हैं जरूरत पड़ता मंडलेश्वर बनेंगे जरूरत पड़ता परिवार के साथ रहेंगे कहीं कहीं तो कथा मंच पर भी जाते हैं बच्चे को भी कथाकार बना करके साथ साथ हम बड़े-बड़े सब इस प्रकार चलते बहुत लोग इसमें डूबे रहते हैं यही है बहुत लोग चलते हैं करके उसको उत्कृष्ट नहीं मानना बहुत लोग चलते तो हम चला ऐसा नहीं है श्रेय क्या है विचार करना चाहिए विचार करके अपने मार्ग पकड़ना चाहिए सत्वम पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोपि हम आज कहते हैं बार-बार में प्रलोभन करने पर भी प्रियान प्रिय रूपांश कामन अविद्यान अत्यसा की प्रिय कौन है पुत्र आदि पुत्र पुत्र आदि धन आदि अप्रिय रूपान प्रियम रूपते जन्यते यही प्रियम रूपते यही प्रिय सुख जिन से होता है वो क्या है अप्सर प्रभुति लक्षणान अप्सर नित्य गीता आदि संगीता आदि दिखा दिया ले लो इनको सेवा कराओ पाद प्रक्षालन आदि कामन अभिध्यायन कहते चिंतन उनका ध्यान चिंतन करते क्या चिंतन करना अभिध्यान कहते विषय का चिंतन करते बड़ा अच्छा बड़े अच्छा ऐसा नहीं विषय को देखने पर थोड़ा अंदर बाहर चिंतन करो बहुत अच्छा बहुत अच्छा करके भाग जाते हैं क्या अच्छा है इसमें विचार करो अनित्यत्व असारत्व आदि दोषान उसमें है दोष है विचार करने पर दिखेगा विचार नहीं करें बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है जितने सुंदर हो उसके अंदर क्या है विचार करो शरीर में इसी प्रकार कोई भी वस्तु प्राप्त है तो सब अनित्य है अनित्य तो असार तो सार नहीं है सार नहीं ये सब अनित्य असार सब संसार ये सब दोष का विचार करके उसका ही चिंतन करेंगे तो वैराग्य होगा दोष है जरूर आसक्ति बहुत होने पर दोष दिखता नहीं गधा लात खाता रहता है गधा नहीं नहीं के पीछे भागता है बड़ी जोर से लात मारती है गधा नहीं वह पीछे भागता है इसी प्रकार जितने भी दुर्दशा हो विषय के पीछे संसार के पीछे जा, जाता है दुख सहन कर लेता है इतने दुख सहन नहीं करना पड़ता है परमात्मा प्राप्ति के लिए यदि उस मार्ग में चले निश्चय करके हे नचिकेतो अत्यसाखी अति असाखी अतिशिष्टवान परित्यक्तवान असी छोड़ दिया तुमने जिसके समय सब लोग डूबे रहते हैं इतने अवसर प्रभुति प्रिय पुत्र पशु दीर्घ जीवन धन सब मैंने दिया छोड़ दिया तुमने असो अहो बुद्धिमत्ता तब जमराज कहते अहो आचे हो करके बच्चे हो करके तुम्हारी बुद्धि बहुत है बड़ी बुद्धिमत्ता है नेताम अवाप्तवान असी इसको तुमने प्राप्त नहीं किया ग्रहण नहीं किया श्रृंगाम श्रुतिम का कुत्सिताम जो निकृष्ट है मूढ़ जन प्रवृताम मूढ़ जन जिसमें प्रभुत्व होते इसको तुमने तो ग्रहण नहीं किया वित्तमय धन प्राय धन संपत्ति भोग जिसमें उसको तुमने तो ग्रहण नहीं किया छोड़ दिया यशाम श्रुतो मज्जंती मग्न डूबे सी सीदंती का था क्लेश को प्राप्त करते हैं बहवो अनेक मूढ़ा मनुष्य बहुत जो डूबे रहते कौन बहुत है मूढ़ है अभिवेकी अनेक मूढ़ जिसमें डूबे रहते हैं दुखी क्लेश को प्राप्त कर सीदंती मज्जंती डूबे रहते सीदंती का था क्लिश्यंती क्लिश्यंते क्लेश को प्राप्त करते हैं अनेक मूढ़ उसको तुमने ग्रहण नहीं किया कितने खुश होते हैं आचार्य यह शिष्य में योग्यता वैराग्य उससे ही आचार्य प्रसन्न होते हैं वैराग्य है लागता है मार्ग में तो अवश्य ही विद्या की प्राप्ति होती है चाहते हैं ज्ञानी ऐसे योग्य आगे आएंगे आगे कहेंगे यमराज कहते तुम्हारे जैसे शिष्य हमको मिले यमराज भी कहते तुम्हारे जैसे पूछने वाला हमको मिले बहुत लोग सोचते हम ज्ञानी गुरु को ढूंढते हैं ज्ञानी शिष्य भी योग्य शिष्य मिलना कठिन होता है ज्ञानी गुरु प्राप्त हो जाएंगे यदि अपने शिष्य में योग्यता हो अपने में योग्यता हो योग्यता के अनुसार समय पर परमात्मा की कृपा से आचार्य गुरु प्राप्त हो जाते हैं हो जाएंगे किंतु अपने में योग्यता हो तो इसलिए यमराज उसकी स्तुति करते और भी स्तुति करेंगे ओम सहना